फिर जंग खत्म हो गई और हिंदुस्तान की आज़ादी बिल्कुल यकीनी हो गई मैंने अब्बा से रामेश्वरम छोड़ने की इजाज़त चाही मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स रामनाथपुरम जाकर पढ़ना चाहता था शमसुद्दीन और जलालुद्दीन मेरे साथ रामनाथपुरम तक गए मुझे शॉर्ट्स हाई स्कूल में दाखिल कराने के लिए जाने क्यों वो नया माहौल मुझे रास नहीं आया रामनाथपुरम बड़ा मसरूफ शहर था और करीब पचास हजार की आबादी थी लेकिन रामेश्वरम का सुकून और इत्मीनान कहीं नहीं था घर बहुत याद आता था और घर लौटने का कोई मौका मैं छोड़ता नहीं था श्वार्ट्स हाई स्कूल में दाखिल होने के बाद एक पंद्रह साल लड़के के तमाम शौक जो हो सकते थे मेरे अंदर जाग उठे मेरे टीचर अय्या दुराई सोलोमन बेहतरीन रहबर थे गाइड उस नौजवान जहन के लिए जिसके सामने जिंदगी की बेशुमार मुमकिन खुलने वाली थी रामनाथपुरम के उस अरसा क्याम में उनसे मेरा रिश्ता उस्ताद शागिर्द या गुरु शिष्य से भी आगे निकल गया अय्या दुराई कहा करते थे जिंदगी कामयाब हो और नतीजे हासिल करने के लिए तीन ताकतों पर काबू पाना बहुत जरूरी है ख्वाहिश यकीन और उम्मीद अय्या दुराई सोलोमन जो बाद में रेवरेंट हो गए कहा करते थे इससे पहले कि मैं चाहूं कुछ हो जाए ये जरूरी है कि मेरे अंदर उसकी पूरी शिद्दत से ख्वाहिश हो और यकीन हो कि वो होगा मैं अपनी जिंदगी से अगर मिसाल दूं तो मुझे बचपन से ही आसमान के इसरार और परिंदों की परवाज हमेशा हैरान करती थी फैसिनेट करती थी समंदर में कूंजों और बगलों को ऊंची उड़ाने लगाते देखता था तो उड़ने को जी करता था मैं एक सादा लो गांव ही का लड़का तो था लेकिन मुझे यकीन था कि एक दिन मैं जरूर उन कुंजों की तरह बुलंद उड़ाने लगाऊंगा बुलंदी पर प्रवास करूंगा और हकीकत यह है कि रामेश्वरम से उड़ने वाला मैं पहला लड़का था शॉर्ट्स स्कूल में तालीम खत्म करते करते मेरे अंदर खुद एतमादी बस चुकी थी और मुझे यकीन था कि मैं ज़रूर कामयाबी हासिल करूंगा मैं तालीम आगे जारी रखूंगा उसमें कोई दूसरा ख्याल नहीं था सन 1950 में मैं इंटरमीडिएट पढ़ने के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज ट्रिची में दाखिल हो गया जब बीएससी डिग्री के लिए मैंने सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया तो हायर एजुकेशन के माने सिर्फ इतने ही जानता था ये नहीं जानता था कि हायर एजुकेशन के लिए कुछ और भी हो सकता है न ये जानता था कि साइंस पढ़ के फ्यूचर के लिए और क्या मौके हासिल हो सकते हैं बीएससी पास करने के बाद ही जान पाया कि फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं था अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए मुझे इंजीनियरिंग में जाना चाहिए था पता नहीं क्यों कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है कि साइंस आदमी को खुदा से मुनकर कर देती है लेकिन मेरे लिए तो साइंस एतमाद विश्वास और रूहानी तस्कीन की वजह रही है किसी तरह मैं एमआईटी यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के उम्मीदवारों की लिस्ट में तो आ गया लेकिन उसका दाखला बहुत महंगा था कम से कम एक हजार रुपए की जरूरत थी और मेरे अब्बा के पास इतने रुपए नहीं थे उस वक्त मेरी अक्का मेरी आपा जोहरा ने अपने सोने के कड़े और चेन बेचकर मेरी फीस का इंतजाम किया मुझ पर उसकी उम्मीद और यकीन देखकर मैं पसीज गया एमआईटी में सबसे ज्यादा मजा आया वहां दो हवाई जहाज रखे देखकर जो उड़ान से बरी कर दिए गए थे मुझे उनकी तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता था और जब सब लड़के हॉस्टल लौट जाते थे मैं कई कई घंटे उनके पास बैठा रहता था फर्स्ट ईयर मुकम्मल करने के बाद जब मुझे अपने ज़्यादा खसूसी मजमून चुनना थे यानी अपनी स्पेशल ब्रांच का चुनाव करना था तो मैंने फॉरेन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का चुनाव कर लिया टी की तालीम के दौरान मुझे तीन टीचर्स ने बहुत मुतासर किया प्रोफेसर स्पॉन्डर professor K A V Pandalai professor Narasimha Rao professor स्पॉन्डर टेक्निकल एरोडायनेमिक्स सिखाते थे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिले से पहले मैंने उनसे सलाह ली थी उन्होंने समझाया था कि मुझे मुस्तकबिल का फैसला करने से पहले मुस्तकबिल की मुमकिनात के बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि सोचना चाहिए एक अच्छी बुनियाद के लिए और अपने रुझान और इश्तियाक के बारे में कि उसमें कितनी शिद्दत है मेरे एप्टीट्यूड्स और एस्पिरेशन में कितनी इंटेंसिटी है मैं खुद भी होने वाले इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूं कि जब वो अपना स्पेशलाइजेशन का चुनाव करें तो ये देखें कि उनमें कितना शौक है कितना उत्साह है और लगन है उस शोबे में जाने के लिए प्रोफेसर के ए वी पंडलई ने मुझे एरोस्ट्रक्चर डिजाइन सिखाया और उसका तज्जिया भी विश्लेषण एनालिसिस भी वो बड़े खुशदिल और दोस्त टीचर थे और हर साल कोई ना कोई नया तरीका नया नजरिया लेकर आते थे कोर्स में प्रोफेसर नरसिंह राव मैथमेटिशियन थे वो एरोडायनेमिक्स की थ्योरी सिखाया करते थे उनकी क्लास में दाखिल होकर मुझे मैथमेटिकल फिजिक्स बाकी तमाम सब्जेक्ट से ज्यादा अच्छा लगने लगा संगी हरि हरि नाम चित चितारा साध सङ्गीत हरिहरिनाम चित्तरा सहजीयन हो वैदिनूराति अंकुर भलो भागे गुरुपुरा भेटियो बड़ भागी जाको अन्तु न परावारा अन्तु न नानक सरणि गहि सुवामी पुनः पुनः नमस्कार